जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली कि यकीनन मैं फरिश्तों में से एक हजार के साथ तुम्हारी मदद करने वाला हूँ जो एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं